क्वेश्चन नंबर 25 चिन्मय कौन अजन्मा कौन भाग दो सिमोन वेल ने किताब लिखी है ग्रेट ऑफ सिग्निफिकेंस ऐसी महत्ता के तल और जितना महान व्यक्ति है उतनी अनेक महत्ताओं के तलों पर वो एक साथ जीता है जीना ही पड़ता है क्योंकि जब जिस तल का व्यक्ति उसके सामने आता है उसी तल पर उसे बात करनी पड़ती या फिर बात बेमानी हो जाती है बुद्ध अगर बुद्ध की तरह आपसे बात करें तो बेकार होगी आप समझेंगे पागल और ऐसा अक्सर हुआ कि इस तरह के लोगों को हमने पागल समझा पागल समझने का कारण था क्योंकि जो बात उन्होंने की वो बिल्कुल पागलपन की मालूम पड़ी तो या तो वो पागल हो जाएंगे अगर अपने तल पर बोले या आपके तल पर बोले तो उनको ग्रेड नीचे लाना पड़ेगा वो उस तल पर आना चाहिए उन्हें जहां आप समझ पाएंगे जहां वो पागल नहीं मालूम पड़ेंगे फिर जितने तलों के लोग उनके पास आते होंगे उतने तल की बात उनको बोलनी पड़ेगी करीब करीब बात ऐसी है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को जितने लोगों से उन्होंने बात कही ऐसा समझ लेना चाहिए कि उतने दर्पण बुद्ध के सामने आए और सब दर्पणों ने अपनी अपनी तस्वीर बना ली कोई दर्पण तिरछा था तो तिरछी तस्वीर बनी नहीं तो दर्पण नाराज होता दर्पण से मेल खानी चाहिए तस्वीर कोई दर्पण लंबा करके दिखाता था तो लंबी तस्वीर बनी कोई छोटा करके दिखाता था तो छोटी तस्वीर बनी अन्यथा दर्पण नाराज होते और या फिर दर्पणों को तोड़ना पड़ता और ठीक करना पड़ता तो इसलिए बहुत तलों पर वक्तव्य है और कई बार तो एक ही वक्तव्य में बहुत तल होते क्योंकि ऐसा व्यक्ति बोलना शुरू करता है तब वो अक्सर वहीं से शुरू करता है जहां वो होता है और जब वो बोलना अंत करता है तब वो अक्सर वहीं होता है जहां आप होते हैं कई दफा तो एक ही वाक्य में भी लंबी यात्रा हो जाती है क्योंकि जब वो बोलना शुरू करता है तो वो वहीं से शुरू करता है जहां वो होता है आपसे बड़ी अपेक्षाएं रख के शुरू करता है फिर धीरे धीरे अपेक्षा उसे नीचे उठाने पड़ती आखिरी वक्त तक वो वहां होता है जहां आप होते हैं और ये दो गहरे खाई विभाजन इनसे जो आखिरी खतरा ख्याल में ले लेना चाहिए वो ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों बहुत अलग हैं कि भिन्न है कि पृथक है जैसा मैंने कहा सागर और लहर जैसे ये और मजे की बात है कि सागर तो बिना लहर के कभी हो सकता है लेकिन लहर कभी बिना सागर के नहीं हो सकता तो निराकार तो आकार के बिना हो सकता है लेकिन आकार कभी निराकार के बिना नहीं हो लेकिन हम अपनी भाषा में देखें तो उल्टा मजा है भाषा में निराकार शब्द में आकार है आकार शब्द में निराकार नहीं भाषा में निराकार में तो आकार को होना ही पड़ेगा आकार में निराकार ना हो तो चल जाए भाषा हमने बनाई है अस्तित्व की हालत उल्टी है वहां निराकार हो सकता है बिना आकार के आकार कभी बिना निराकार के नहीं हो सकता पूरे हमारे शब्द ऐसे पूरे शब्द हमारे ऐसे हैं अहिंसा हो कि हिंसा हो अहिंसा में शब्द में हमारे हिंसा जरूरी है हिंसा शब्द में अहिंसा आवश्यक नहीं है लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि हिंसा बिना अहिंसा की नहीं हो सकती है हिंसा के होने के लिए अहिंसा बिल्कुल ही अनिवार्य तत्व है तो हिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता हालांकि अहिंसा बिना हिंसा के हो सकती तो उसके लिए कोई जरूरी हिंसा का होना नहीं भाषा हम बनाते हैं और हम अपने हिसाब से बनाते हैं हमारे लिए संसार हो सकता है बिना परमात्मा के परमात्मा कैसे बिना संसार के होगा ये दो चीजें अलग नहीं है इसलिए इसमें जो विराट है वो क्षुद्र के बिना हो सकता है लहर के बिना सागर के होने में कोई भी बाधा नहीं लेकिन लहर कैसे होगी सागर के बिना लहर इतनी छोटी है और अपने होने के लिए चारों तरफ सागर से बंधी है सब तरफ सागर उसको पकड़े हुए है तो ही वो है सब तरफ सागर ने उसको उठाया तो ही वो है सब तरफ सागर उसको संभाले है तो ही वो है सागर छोड़ दे तो हो गई सागर हो सकता है उसे उसे किसी लहर ने नहीं संभाला हुआ है उसके लहर के होने का कोई सवाल नहीं ये दो अलग नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अलग है अलग इसलिए कहता हूं कि लहर को भ्रम न हो जाए कि वो अपने को अमृत और निराकार और शाश्वत न समझ ले अलग है तो भ्रम हो सकता है भ्रम की कठिनाई पैदा हो सकती है अगर एक ही है तो भ्रम नहीं होगा और अगर एक का ऐसा अनुभव हो तब तो फिर वो कहेगी कि मैं हूं ही नहीं सागर ही जैसे जीसस बार बार कहते हैं कि मैं कहा हूं वही है पिता जो ऊपर है मैं नहीं हूं वही है ये हमारी हमें दिक्कत होती है हमें बहुत कठिनाई होती है क्योंकि या तो हम ऊपर पिता को खोजना चाहते हैं कि वो कौन है ऊपर कहाँ है और या फिर इस आदमी को हम पागल समझते हैं कि आदमी क्या कह रहा है तुम ही तो हो और कौन है पर जीसस यही कह रहे हैं कि लहर में नहीं सागर पर हमें लहरों के सिवाय किसी चीज का कभी कोई दर्शन नहीं हुआ इसलिए सागर हमारे लिए सिर्फ शब्द है जो है वस्तुता वो हमारे लिए केवल शब्द है और जो मात्र दिखाई पड़ता है वो हमारे लिए सत्य है इसलिए मैंने कहा कि शरीर मरण धर्मा है मृत्यु चैतन्य चिन्ह में मरण धर्म नहीं है वरण अमृत्व है और उस अमृत्व के के ऊपर ही सारी मृत्यु का खेल है सागर और लहर को तो हमें समझने में कठिनाई नहीं होती क्योंकि हमने कभी सागर और लहर में इतनी दुश्मनी नहीं मानी लेकिन मृत्यु और अमृत में हमें बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हमने बड़ी दुश्मनी मानी रखी दुश्मनी हमारी मानी हुई सागर और लहर जब मैं कहता हूं तो आपको कठिनाई नहीं होती कि आप कहते हैं कि बड़े निकट के अस्तित्व में ठीक कहते हैं लेकिन मृत्यु और अमृत तो बड़े विपरीत है पदार्थ और परमात्मा तो बड़े विपरीत है जन्म और मृत्यु तो बड़े विपरीत है ये तो एक नहीं हो सकते ये भी एक ही है मृत्यु को भी जितना गहरे जाके जानेंगे पाएंगे परिवर्तन से ज्यादा नहीं लहर भी परिवर्तन से ज्यादा नहीं अमृत को भी जितना खोजेंगे पाएंगे वो शाश्वतता इटर्निटी है और कुछ भी नहीं इस जगत में जो जो हमें विपरीत दिखाई पड़ता है वो अपने विपरीत पर ही निर्भर होता है हमारे दिखाई पड़ने में विपरीत के कारण बड़ी अड़चन है हम मृत्यु को और अमृत को बिल्कुल अलग रखते हैं लेकिन मृत्यु जी नहीं सकती अमृत के बिना उसको भी होने के लिए अमृत से ही थोड़ा सहारा उधार लेना पड़ता है जितनी देर होती है उतनी देर भी अमृत के कंधे पर हाथ रखना पड़ता है झूठ को भी थोड़ी देर चलना हो तो सत्य के कंधे पर थोड़ा हाथ रखना पड़ता है झूठ को भी थोड़े कदम रखने हो तो उसको कहना पड़ता है मैं सत्य हूं सत्य से दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं लेकिन झूठ सदा दावा करता है कि मैं सत्य बिना दावा के वो चल नहीं सकता इंच भर चला कि गिरा उसको चिल्ला के घोषणा पड़ती है कि समझ जाओ मैं आ रहा हूं मैं सत्य वो सब प्रमाण लेके साथ चलता है कि मैं सत्य क्यों सत्य कोई प्रमाण लेके नहीं चलता उसके लिए झूठ के सहारे की कोई भी जरूरत नहीं वो सहारा लेगा तो दिक्कत में पड़ेगा झूठ सहारा न लेगा तो दिक्कत में पड़ जाएगा अमृत के लिए मृत्यु के सहारे की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मृत्यु की घटना तो अमृत के सहारे ही घटती है शाश्वत के लिए परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं लेकिन परिवर्तन की घटना शाश्वत के बिना नहीं घट सकती इतना जरूर तय है कि वो जो परिवर्तनशील है वो हमें हमारी जो स्थिति है हमारी जो स्थिति हम सिर्फ परिवर्तनशील को ही जानते हैं इसलिए जब भी शाश्वत के संबंध में सोचते हैं तो हम परिवर्तनशील से ही कुछ अनुमान लगाते हैं और कोई उपाय नहीं है हमारी हालत ऐसी है जैसा कि अंधेरे में खड़ा आदमी अंधेरे से ही प्रकाश का अनुमान लगाए उसके पास और कोई उपाय नहीं यद्यपि अंधकार भी प्रकाश का ही धीमा रूप है अंधकार भी प्रकाश के बहुत कम होने की स्थिति है कोई अंधकार ऐसा नहीं जहां प्रकाश ना हो क्षीण होगा और छीन भी कहना ठीक नहीं है सिर्फ हमारी इंद्रियों की पकड़ के लिए छीन हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ पाती अन्यथा हमारे पास से इतना बड़े प्रकाश के के बवंडर निकल रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं कि हम देख लें तो हम अंधे हो जाए लेकिन हमारी इंद्रियां उनको नहीं पकड़ पाती अंधेरा हो जाता है जब तक एक्सरे नहीं थी हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी के भीतर भी किरणें आर पार हो रही हैं हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी के भीतर की हड्डी की तस्वीर भी किसी दिन बाहर आ जाएगी आज नहीं कल और गहरी किरण खोज ली जाएगी और हम एक बच्चे के मां के पेट में जो पहला अणु है उसके आर पार किरण को डाल सकेंगे किसी दिन तो हम उसकी पूरी जिंदगी देख लेंगे कि वो क्या क्या हो जाएगा इसकी सारी संभावनाएं हैं हमारे पास बहुत तरह का प्रकाश गुजर रहा है हमारी आंख नहीं पकड़ती नहीं पकड़ती हमारे लिए नहीं अंधेरा है जिसे हम अंधेरा कहते हैं उसका कुल मतलब इतना ही है कि ऐसा प्रकाश जिसे हम नहीं पकड़ते इससे ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी अंधेरे में खड़े होकर कोई आदमी प्रकाश के बाबत जो भी अनुमान लगाएगा वो गलत होंगे माना कि अंधेरा प्रकाश का ही एक रूप है फिर भी अंधेरे से प्रकाश के बाबत जो भी अनुमान लगाए जाएंगे वो गलत होंगे माना कि मृत्यु भी अमृत का एक रूप है फिर भी मृत्यु से अमृत के बाबत जो भी अनुमान लगाए जाएंगे वो गलत है हम अमृत को जान लें तो ही कुछ होता है अंत कुछ भी नहीं मृत्यु से घिरे हुए व्यक्ति अमृत से जो मतलब लेते हैं उनका मतलब इतनी होता है केवल कि हम नहीं मरेंगे जो कि बिल्कुल गलत है मृत्यु से घिरा हुआ व्यक्ति अमृत से एक ही मतलब लेता है कि मैं नहीं मरूंगा अमृत का मतलब है अमर मृत्यु से घिरे आदमी को कि मैं मरूंगा नहीं जो जानता है अमृत को उसका मतलब है कि मैं कभी था ही नहीं जो नहीं जानता वो कहता मैं कभी होऊंगा ही सदा रहूंगा मैं कभी भी नहीं नहीं होऊंगा देखते हैं उन दोनों का फर्क बुनियादी है गहरा है मरने को जानने वाला आदमी कहता है तो ठीक पक्का हो गया ना कि आत्मा अमर है फिर मैं कभी नहीं मरूंगा वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा उसका जो मतलब होगा वो भविष्य में होगा कि तो फिर मैं कभी नहीं मरूंगा जो आदमी जान लेगा अमृत को वो कहेगा मैं कभी था ही नहीं मैं कभी हुआ ही नहीं वो हमेशा पास्ट ओरिएंटेड होगा इसलिए चूंकि सारा विज्ञान हमारा मृत्यु के हाथ में घिरा हुआ है इसलिए सारा विज्ञान भविष्य की बात करता है और सारा धर्म चूंकि अमृत के आसपास गिरा था इसलिए वो अतीत की बात करता है ओरिजिन की एंड की नहीं स्रोत मूल स्रोत क्या है धर्म कहता है जगत कहां से पैदा हुआ कहां से हम आए क्योंकि धर्म कहता है जब हम अगर इस बात को ठीक से जान लें कि जहां से हम आए हैं वो स्रोत क्या है तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि कहां हम जाएंगे क्योंकि जहां से हम आए हैं उससे अन्यथा हम जा नहीं सकते जो हमारा मूल है वही हमारी डेस्टिनी है वही हमारी नियति वही हमारा अंत जो हमारा आदि है वही हमारा अंत इसलिए सारे धर्म की चिंतना आदि की खोज में वट इज द ओरिजन जगत आया कहां से अस्तित्व कहां से पैदा हुआ आत्मा कहां से आई सृष्टि कहां हुई सारी चिंतना धर्म की पीछे की खोज है आखिर की और सारा विज्ञान आगे की खोज है कि हम जा कहां रहे हैं हम पहुंचेंगे कहां हम हो क्या जाएंगे कल क्या होगा अंत क्या है उसका कारण है कि विज्ञान की सारी खोज मरण धर्मा कर रहा है धर्म की सारी खोज उनकी है जिनको मृत्यु की बात समाप्त हो गई अब मजे की बात है कि मृत्यु सदा भविष्य में मृत्यु का अतीत से कोई लेना देना नहीं है जब भी आप मृत्यु के संबंध में सोचेंगे अतीत का कोई सवाल ही नहीं बात ही खत्म होगी मृत्यु सदा आने वाले कल में और जीवन जहां से आया है वो सदा कल था जहां से जीवन आ रहा है जहां से गंगा आ रही है वो तो गंगोत्री से आ रही है जहां गिरेगी वो सागर है जहां मिटेगी वो कल है जहां बनी है वो कल था मृत्यु से घिरा आदमी जो भी अर्थ निकालेगा वो मृत्यु के ही अनुमान होंगे इसलिए दूसरे तल की बात पहले तल का अनुमान नहीं है दूसरे तल की बात दूसरे तल का अनुभव है ये भी बहुत मजे की बात है कि जो दूसरे तल को जान लेता है वो पहले को तो जानता ही है लेकिन जो पहले को जानता है वो जरूरी रूप से दूसरे को नहीं जानता इसलिए अगर हमने बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट को प्रज्ञावान कहा बुद्धिमान कहा तो हमारा उन्हें बुद्धिमान कहने का कारण दूसरा है तो वो दो तलों को जानते हैं हम एक तल को जानते हैं इसलिए उनकी बात हमसे ज्यादा अर्थपूर्ण है क्योंकि जितना हम जानते हैं उतना तो वो जानते ही है उसमें तो अड़चन नहीं उन्होंने भी मृत्यु को जाना है उन्होंने भी दुख जाना है उन्होंने भी क्रोध जाना है उन्होंने भी हिंसा जानी है उतना तो वे जानते हैं जितना हम जानते हैं लेकिन वे कुछ और भी जानते हैं जो हम नहीं जानते इसलिए पूर्व के मुल्कों में सदा ही विजडम जो है प्रज्ञा जो है वो जिसको कहना चाहिए तल परिवर्तन है पश्चिम के मुल्कों में ज्ञान जो है वो उसी तल पर एकुमुलेशन उसी तल पर आइंस्टीन कितना ही जानता हो हम जो जानते हैं हम और उसमें क्वांटिटेटिव अंतर है कितना ही जानता हो हम्म, हम इस टेबल को नाप पाते हैं उसने सारे विश्व को नाप लिया बाकी ये जो अंतर है ये परिमाण का है मात्रा का है कोई गुणात्मक अंतर नहीं यानी कुछ ऐसा वो नहीं जानता है जो कि जो कि मुझसे भिन्न है हाँ मेरे का ही विस्तार मैं कम जानता हूं वो ज्यादा जानता है मेरे पास रुपया है उसके पास करोड़ रुपये लेकिन जो मेरे पास है उससे भिन्न उसके पास नहीं है उसका ही और और ज्यादा राशि है बुद्ध या महावीर को जब हम कहते हैं ज्ञानी तो हमारा मतलब ये नहीं ये भी हो सकता है कि हमारे तल पर हम ही उनसे ज्यादा जानते हो नहीं लेकिन हमारा ज्ञान का मतलब है कि वो दूसरे तल पर कुछ जानते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं जानते एक नई यात्रा उन्होंने शुरू की है क्वालिटेटिव अंतर है इसलिए ऐसा हो सकता है कि महावीर को आइंस्टीन को सामने खड़ा करें तो आइंस्टीन जो जानता है उस मामले में महावीर बहुत ज्यादा ज्ञानी सिद्ध ना हो उतना एकोमोडेशन उनके पास नहीं होगा वो तो कहेंगे भाई मैं तो टेबल ही नाप सकता तुम सारे संसार को नाप देते हो तुम दूर तारे चांद तारों की भी लंबाई बता देते हो बाकी मैं नहीं बता सकता मैं तो इस कमरे को भी नाप लू तो बहुत लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो क्योंकि तुम जो जानते हो वो कंसीवेबल है उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है अगर कमरा नापा जा सकता है तो तारे भी नापे जा सकते हैं इसमें कोई कहीं कोई क्रांति घटित नहीं हो गई है आइंस्टीन के भीतर कोई म्यूटेशन नहीं हो गया ये कोई दूसरा आदमी नहीं है ये आदमी वही है हाँ उसमें ही ज्यादा कुशल है जिसमें हम अकुशल हैं उसमें ही ज्यादा गतिमान जिसमें हम मन गति है उसमें ही दूर तक गया जिसमें हम थोड़ी दूर गए उसमें ही गहरा गया जिसमें हम बाहर से ही लौट आए लेकिन कहीं और नहीं इसके कोई प्रवेश बुद्ध और महावीर या उस तरह के लोग जिनको हमने बुद्धिमान कहा उनसे हमारा प्रयोजन है कि वो जो तल है जानने का मृत्यु का उसके पार में वहां गए जहां अमृत है और उनकी बात का मूल्य है उनकी बात का मूल्य एक आदमी जिसने कभी शराब नहीं पी उसकी बात का बहुत मूल्य नहीं कि वो क्या कह रहा है एक आदमी जिसने शराब पी उसकी बात का भी बहुत मूल्य नहीं है लेकिन एक आदमी जिसने शराब पी और शराब के पार भी गया उसकी बात का बहुत मूल्य है जिसने शराब पी नहीं वो बचपन में है उसने कोई प्रौढ़ता नहीं पाई उसका वक्तव्य चाइल्डिस है इसीलिए शराब नहीं पीने वाले कभी भी शराब पीने वालों को समझा नहीं पाते क्योंकि नहीं पीने वाले चाइल्डिस मालूम है बचका नहीं शराब पीने वाला जानता है कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं तुम तुम तो जो जानते हो वो हमने भी जाना है हम तुमसे ज्यादा जानते हैं अगर तुम भी पी कर देखो तभी तुम कुछ कह सको लेकिन जिसने शराब पी और छोड़ी शराब पीने वाला उसकी बात का मूल्य करता है यूरोप और अमरीका में एक संगठन है शराब पीने वालों का अल्कोहल अनानिमस ये बहुत व्यापक आंदोलन है इसमें सिर्फ वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो शराब में गहरे गए सिर्फ वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं और ये शराब छुड़ाने वालों का आंदोलन है लेकिन सिर्फ शराब पीने वाले ही सम्मिलित हो सकते हैं और ये हैरानी की बात है कि शराब पीने वालों की ये मंडलियां किसी भी नए शराब पीने वाले को फौरन शराब छुड़वा देती क्योंकि वो मैच्योर्ड है शराब पीने वाला उसकी बात समझ पाता है कि जो जो कह रहा है वो कुछ अनुभवी है वो गैर अनुभव से नहीं कह रहा उसने भी पिया है और वो भी इसी तरह गिरा है वो भी इन्हीं कठिनाइयों से गुजरा है और पार हुआ है उसकी बात का कोई मूल्य है पर फिर भी ये मैंने उदाहरण के लिए कहा क्योंकि शराब पियो कि ना पियो कि पीने के बाद छोड़ दो बहुत तल का फर्क नहीं है हाँ, एक तल के भीतर ही सीढ़ियों का फर्क है लेकिन एक बार अमृत का अनुभव हो जाए तो सारा तल परिवर्तित हुआ अगर बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट जैसे लोगों की बात का इतना गहरा परिणाम हुआ तो उसका कारण यह था उसका कारण था हम जो जानते थे वे जानते ही हैं हम जो नहीं जानते हैं वो भी नहीं जानते हैं और जो भी उन्होंने नया जाना है उस नए जानने से वो कह रहे हैं कि हमारे जानने में कहीं बुनियादी भूल है